आपकी दृष्टा आपकी ही दोस्त हैं आप ही आप अपने में चिकित्सक हो रहे हैं अपने को दिन देखना ज्ञान है अभिन्न देखना ज्ञान है तो भिन्न देख के ही हम उससे गति चाहते हैं मोक्ष और ज्ञान आदि चाहते हैं भिन्न देखते हैं गुरु शास्त्र ईश्वर को भिन्नता नहीं है हाँ। तो सुखी में रोज आते हैं भीमता कोई नहीं तो कोई शास्त्र है न जीव है न जगत है न ईश्वर का पता है न ब्रह्म का पता है पता है कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है सत्य हो तो, तो सुसुप्ति में रहना चाहिए ना हम्म। क्या था तो सब दोनों ही घुसे हैं साथ तो साथ दोनों द्वंद है द्वंद माया होता है गोंदा पे प्लेट गोंदा होता है कहा है कि मैं ब्रह्मा हूँ और उसके बाद सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई कौन कहा <laughs> कौन सा बताओ नहीं अहंकार जो हुआ तो उसी में हुआ ना सर अरे मैं सुनता कि हुआ हुआ कुछ नहीं है कुछ नहीं तो कहीं नहीं पकड़ते हुआ को तो पकड़ लेते हैं कोई तो हुआ बन गया उसमें पढ़ते पढ़ते इतना लंबा चौड़ा आ जाता है तो उसकी कुछ आ जाता क्या भीड़ हो गया ना हाँ। संसार के तो क्या भीड़ है हम आता तो जल्दी हटता नहीं पर हटा नहीं पड़ेगा संसार हटेगा तो ब्रह्म आएगा क्या सारे संसार को ब्रह्म समझ लो सभी शांति है सारे माया समझ सभी कभी करती है एक मायने दो मामले में अशांति झगड़ा है दो में भय है आपके कुछ माया है तो कौन कौन किससे लड़ाई करेगा ऐसे ही है माया कौन किससे लड़ाई अपना ब्रह्म है तो ऐसे ही है जो दूसरा का नहीं दो में भय होता है एक मिनट है नहीं और ग्यारह को देखिए ग्यारह के देखने में सब कुछ भी नहीं है अज्ञानी के देखने में सब कुछ है ज्ञानी के देखने से देखा तो कुछ भी नहीं है अज्ञानी के देखने से सब तो कुछ है दुख देता तो है रास्ता तो कुछ है और दुख है चाकू से नहीं है बंदूक भी नहीं है ज्ञानी के दृष्टि से देखना सीखो अज्ञानी के दृष्टि से देखना छोड़ो अध्यय दृष्टि छोड़ो देह दृष्टि होगा तो सब दिखेगा और आत्म दृष्टि से करें तो कुछ भी नहीं है दृष्टि बदलना स्थिति नहीं बदली जाती है ज्ञानी लोग दृष्टि बदल लेते हैं अज्ञानी लोग कृषि के सब मानते हैं ज्ञानी कृषि के मित्रा जानता है ऐसा सुख से तो रहता है इकहत्तरवा भूत और भविष्य कर्मों को कैसे ही निश्चय करके वर्तमान कर्म को मैं नहीं करता हूँ और इनके फल को भी मैं नहीं भोगता हूँ इस प्रकार की मेरी स्थिर बुद्धि है दत्तात्रेय जी कहते हैं भूत भविष्य और वर्तमान ये तीन प्रकार के कर्म हैं उनमें जो पूर्व के जन्मों में कर्म किए गए हैं वह भूत कर्म कहते हैं और जो भविष्य जन्मों में किए जाएंगे वह भविष्य कर्म कहे जाते हैं जो वर्तमान जन्म में किए जाते हैं वह वर्तमान कर्म कहे जाते हैं इनको मैं न करता हूँ और न इनके पल का भोगता हूँ ऐसी मेरी स्थिर बुद्धि है जाने के विष्णु में भूत वर्तमान नहीं होता सारी वर्तमान ही रहता है भूत भविष्य नहीं होता और अज्ञानी का जैसे भूत भविष्य वर्तमान है ज्ञानी सदा वर्तमान में रहता है अज्ञानी भूत भविष्य में रहता है वर्तमान में नहीं रहता है वर्तमान में तो स्वरूप में स्थिति हो जाए वर्तमान में स्वरूप है भूत संसार है भूत भविष्य का नाम संसार है वर्तमान में तो परमात्मा ही है वर्तमान में हम नहीं रहते हैं या तो भूत की चिंता करते हैं या भविष्य की भूत भविष्य का चिंता छोड़ दो तब वर्तमान तो में स्थिति हो जाएगी परमात्मा में परमात्मा वर्तमान में है बहुत बड़े the risk वास्तव में तो वर्तमान की सत्ता नहीं है परमात्मा ही है वर्तमान इसको कहते परमात्मा ही है शून्य मंदिर में करके पवित्र हुआ अकेला अवधूत सुख पूर्वक स्थिर होता है फिर रस अरस रहा उसे हाँ। रस अरस कुछ रहा कुछ नहीं रहा कहा गया कि जितना कुछ कहा गया तो सब सुन रहे कुछ नहीं सुन का ही कथन हो रहा है हाँ। सारे शब्द सुन है कुछ नहीं सारे शब्दों के कई अक्षर ब्रह्म सात शब्दों के कई अर्थ ब्रह्म है और सात सत्सुम है कुछ नहीं शब्द जाले महारम हो गए शब्दों का जाल में आदमी लग गया ऐसे कहते हैं ऐसे कहते हैं शब्द जाले महारम हो चित्त भ्रमण का है चित्त भ्रमण का बनाती हो जाती है कि कौन सा है वहाँ वो कहते हैं पैसे कहते हैं तो कौन सा तुम्हारा माया है अगर मातृ माया है तो माया कहीं माया की सत्ता होती रही होती रही तो सचाल हो लगेगा माया का हमने सब कुछ मान लिया है माया का माया नहीं जानते माया का सत्य मानते हैं इसलिए बाइक सजाते हैं तो संग्रह करते हैं माया के साथ समान बनाते रहते हैं उसका तो खेल माया में हो रहा है ब्रह्म का व्यापक है आकाश से भी बड़ा है उसके सिवा कुछ है नहीं तो क्या हो और ठोस तो है कुटस है खोल नहीं है उसमें और तो सृष्टि कैसे भागता है कुछ हो तो भास है वाय नहीं सपने में संसार भासता है आँख खुलते कुछ नहीं रहता तो सपने में भी नहीं था सपने में भी नहीं था यही भाषा है था जागरूक में भी भागता है अभी सो जाता है तो नहीं भागता तो जागरूक में भी नहीं है सत होता तो सत का अभाव नहीं होता सत सदा रहे तो सत है पे कभी आए कभी नहीं हो कभी नहीं होता तो धोखा भ्रम है माया है तो देखता है सच नहीं मानता तो सुखी रहता है हाँ? सच नहीं मान रहा सच्चा नहीं मान रहा तो सुखी रहता है हम्म। दुख जो है वो तो सच सच मान के है ना कल्पित को कल्पित को तो सच मानने से दुख होता है ना इसमें कुछ भी होता है हानि लाभ तो जी यह चारों नहीं है नहीं है तीसरी जीवन मुक्ति अवस्था में आत्मा में ही ब्रह्मानंद को ही लभता है फिर जिस जीवन मुक्ति अवस्था में धर्माधर्म भी नहीं है नहीं है किस अवस्था में यह बुद्ध है यह मुक्त है यहाँ यह व्यवहार कैसे होता है है ऐसा जो अवधूत है वह मंत्र को लगता है लगता है और नहीं लगता नहीं लगता वो क्या कुछ करता ही नहीं तो अद्वैत ब्रह्म स्थिति है उसकी दूसरा कुछ जानता ही नहीं तो जो कुछ कहा जाता उसके विषय नहीं है उसके लेखक का कहना है और भूत का द्वैत में स्थित है तो अपने आप में स्थित है इसका कहना सुनना है तो कोई बंद में धर्म अधर्म का पूर्ण सतह अतीत हो गया उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता और भूत तो ब्रह्म रूप होता है ब्रह्म के वाणी का विषय नहीं तो वो भी वाणी का विषय नहीं वाणी अंजलि से परे निकल गया है तो क्या है कैसा है जो कुछ कहा जाता है उसको विलक्षण होता है रास्ता किसी को भी नहीं जानता श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाम आत्म नाम प्रथमोध्याय संपूर्ण जगत शून्य रूप है आप शून्य से रहित है सत्य और असत्य भी इसमें विद्यमान नहीं है स्वभाव से ही भाव रूप कहा है शास्त्र के ज्ञान पूर्वक कहा है इतना तो शास्त्र कहता है हाँ। वो शास्त्र तो से परे है शास्त्र से तो नेत्र नेत्र करके नेत्र कौन कहता है कहता सारा जगत सुन होता है शून्य जगत में हम सत्य मान के दुखी हो रहे हैं सारा जगत सुन रूप सुन से उत्पन्न हुआ है तो सुखी में सुन है कुछ नहीं उसी से जागृत स्वप्न उत्पन्न होता है तो सुन से उत्पन्न होगा सुन ही होता है तो सारा जगत को सुन समझ लो तो राग देश भय सब मिल जाए सुन से राग नहीं होता ना देश होता है तो भय होता है सुन रूप नहीं जानता ना इसीलिए दुख हो रहा है सुन से उत्पन्न हुआ सुनी ही रोज सुन से निकलता है रोज सुन में समा जाता है तो सुनी है सुन को हमने नाम रूप वाला मान लिया नाम रूप का सुन माया है माया सुन है कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो सब कुछ मान करके दुखी हो रही है कुछ नहीं तो कुछ नहीं जानो कोई दुख नहीं है और हाँ, उस वक्त किससे तो कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है बस कुछ नहीं यही माना जाता है कुछ नहीं कुछ नहीं भीड़ हो जाएगा तो सब कुछ नहीं उड़ जाएगा फिर रहेगा नहीं कुछ है संस्कार कर दिया है और कुछ नहीं है संस्कार दिन हाँ। तो उठा लिया है हाँ हाँ प्रभु जी वो तो एक अभी बड़ी देर है और दूध प्रकरण पहला बालक को अथवा विषय भोग में प्रीति वाले को निश्चय करके मूर्ख को सेवक जन को गुरु में स्थित को इन गुरुओं से कुछ भी निश्चय करके लाभ नहीं होता है ऐसा चिंतन नहीं करना गुरुओं से कुछ लाभ नहीं होता है ऐसा चिंतन नहीं करना अपवित्र की चादी में गिरे हुए रत्न को कैसे कोई भी त्याग कर देता है बालक मूर्ख तो से क्या लाभ होगा और दिनों से कोई लाभ नहीं है ये तो कहते हैं गुण हो गया गुण अगुण दोनों से पार होना है जो जंगली आती है तो पार और में कुछ न कुछ गुण है तो उनसे गुण ले लें आ गुण छोड़ लें कभी गुरु सीन बने उन्होंने हाँ। गुण लिया क्योंकि अगुण तो नहीं देखा दोष ग्राही न मनो गुण ग्राही मनो तो ज़्यादातर हम दोष देखते हैं गुण नहीं देखते किसी कमी से जब तक दोष दिखेगा न भक्ति होगा न ज्ञान होगा न योग होगा कुछ दोष व्यक्ति से न भक्ति होता है न ज्ञान होता है क्योंकि भगवान सब में है उसमें दोष रखना तो भगवान में दोष रखना बोले इसमें दोष किसी में होगा सबसे होता के सब में भगवान को देखो उसके शरीर क्रिया के न देखो ये सब ना ये तो दूर देखो दोस्त देखो ही नहीं तो गुड़ दो दोनों से पार हो जाएंगे काव्य के गुण निश्चय करके नहीं चिंतन करने चाहिए निश्चय करके गुणवान से परम सार वस्तु का ही ग्रहण करना योग्य है पृथ्वी तल में सिंदूर की चित्रकारी से रहता और रूप से शून्य नौका पार को जाने वाली कामना वालों को इस संसार में क्या पार को नहीं प्राप्त कराती है आ, हाँ, वो सुनो उसको रूप से न देखो उसको क्रिया न देखो क्रिया में भ्रम हो जाएगा हाँ मैंने काव्य न्याय आदि पढ़ा नहीं पढ़ा है क्या है और कहता क्या वो सुनो उसके कल्याण कल्याण की बातें चाहता हूँ लो और बातें चाहता नहीं सुनना और गुरु होगा तो कल्याण की बातें करेगा और बातें क्या करेगा ऐसे तो सभी विषय के गुरु होते हैं और कल्याण कामी का कल्याण की बातें सुनने वाला गुरु समझ कोई है अगर वो बात समझ में नहीं आता गुरु बना के कल्याण की बात सुनो फिर दूसरा नंबर है पहला नंबर तक पहले कर रहे हैं अगर उसमें खेती नहीं होता पा तो गुरु से जूझ ही बनो बना और ज्ञान वैराग्य को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कब जानता है कि नहीं जानता है तो कहता का कल्याण की बात है जिससे जिसका था सम्मान लो योग में कृष्ण में आया है कि जिससे बात बालक भी कहे तो मान लो और हाँ, जिससे ब्रह्मा भी कहते ना माने बालक भी जिससे जिस बात कहता तो मान लो और बालक स्त्री जिसके जो कहते मान लो ब्रह्मा भी जिसके बीच कहते ना मानो तो जिसके जो कल्याण की बात है मन को संतोष होता तो मानना ही मन को संतोष नहीं होता तो नहीं मानो तीसरा जिस निश्चल करके प्रयत्न से ही चल अचल तब वह चेतन ग्रसा है स्वभाव से ही शांत रूप है चैतन्य स्वरूप है आकाश के उपमा वाला है आकाश के समान व्यापक है और इसी में चल अचल दोनों जगत को गिरता तो प्रेम की तरह दिखते हैं होता नहीं जैसे आईना में जगत दिखता है और होता नहीं बाहर है आईना में दिखता है तो जहाँ दिखता है वहाँ होता नहीं जहाँ होता है वहाँ दिखता नहीं चेहरा दिखता है पर उसमें होता नहीं अब बाहर दिखता बाहर चेहरा है तो दिखता नहीं तो दिख, देखने वाला दिखता नहीं और दिखने वाला होता नहीं तो सबको देखने वाला वो नहीं दिखता और जो दिखता है वो तो रहता नहीं बदलता रहता है दिखने वाले में सबसे पहले नाश होता रहता है और देखने वाला सदा एक होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता पुनः फिर जो एक ही निश्चय करके बिना ही यत्न से चर अचर को मन करता है वह सर्वगत है अद्वैत है मुझसे भिन्न है तो कैसे वर्तता है चौथा चेतन साहब में पर्वत के चक्कर चला रहा है वो शांत है निर्मल एक है और शरीर अनेक है शरीर अनेक है और सब जड़ है सब शरीर जड़ है चाहे किसी भी किसी का भी शरीर हो देवता का हो दैत को हो मनुष्य को हो सब शरीर ज्ञान है चेतन है कि जो सब में बैठ के चला रहा है वो निकल जाते कुछ काम नहीं होता लेकिन जो सब कुछ चला रहा है वही आत्मा है परमात्मा है ब्रह्म है वो सब में व्यापक है और सब में व्यापक है सबको क्रियाशील कर रहा है वो निकल जाए तो कोई क्रिया नहीं होती वो तो मैं ही हूँ वो हाँ। मेरे से भी कोई चेतन नहीं और जड़ भी नहीं है मेरे से जड़ भी मेरे से नहीं चेतन नहीं सब मेरी कल्पना है कल्पना से एक भाषा कल्पना न करो तो नहीं भाषा कल्पना ही माया है हर वक्त बदलता रहता है कल अपना एक जैसा स्थिर नहीं रहता बदलता रहता है तो दिख रहा है हमारी कल्पना है तो हम ही है सारा जगह उसको अपने से भिन्न मानते हैं इसीलिए दुखी है शरीर संसार अभिन्न रूप है जहाँ शरीर है वहाँ संसार है जहाँ शरीर है वहाँ संसार भी नहीं दिखेगा तो शरीर संसार भी रूप होते हुए भी हम एक शरीर को अपना मानते हैं और को अपने से दिन मान के राग देश भय करते हैं तो सब मानवी सब संकाल पर तो सब शरीर हमारा ही है तो सब हम ही है तो राग देश भय हैं तो नहीं हम एक शरीर को अपना मानते हैं इसीलिए राग देश भय होते हैं सब शरीर अपना ही है तो राग देश भय किसे होगा अभीम द्वैत है अभीम को द्वैत कहते हैं अभीम को द्वैत कहते हैं द्वैत में सारे दुख है अद्वैत में कोई दुख नहीं है अद्वैत में ही अभिन्नता होती है अद्वैत भिन्नता है अभिन्नता में सारे दुख है तो में द्वैत नहीं रहता मोर्चा में द्वैत नहीं है समाधि में द्वैत नहीं है तो कोई दुख नहीं है जागृत स्वप्न में द्वैत है या दुखी सुखी होते हैं सपन के द्वैत पर जाकर काफी कर देना मिथ्या है जैसे सपन को द्वैत काफी मिथ्या कर देते हैं जाके ऐसे जागृत के द्वैत को मिथ्या कर दो तो स्वरूप में सुखी हो जाए जागृत को मिथ्या नहीं करते हैं इसीलिए दुखी है जब तक जागृत के सत्य मानते रहेंगे दुख में बना रहेगा सब मिथ्या नहीं दिखेगा तब तक दुख नहीं जाता मिथ्या को सत्य मानकर दुखी हो रहे हैं मिथ्या सांप को सत्य मानकर दुखी प्रदीप हो रहे हैं सांप तो है नहीं रहा मिथ्या सांप को सत्ता मान लिया और दुखी हो रहे हैं है तो रस ही सांप तो है नहीं रहा ऐसे ऐसा बोलता से कुछ हो रहा है उनका भाव आए कुछ मानते हैं कुछ आए ब्रह्म मानते हैं जगत हम्म। जगत भाव इतना दृढ़ कर लिया कि ब्रह्म भाव को छिपा दिया अब ब्रह्म भाव दृढ़ कर दिया केवल अपना है मैं ही निश्चय करके जिस प्रकृति से हूँ और सार असार से भी रहित हूँ जिस प्रकृति से सूक्ष्म हूँ और सार असार से भी रहित हूँ कल्याण स्वरूप हूँ और गमन आगमन से भी रहित हूँ और निर्विकल्प हूँ कुल से रहित हूँ आगमन मेरे में नहीं है सार असार से रहित हूँ प्रकृति से भी सूक्ष्म हूँ प्रकृति से अलग हूँ प्रकृति अलग है मैं अलग हूँ क्या प्रकृति से पूछो तो प्रकृति हमारा ख्याल है संकल्प है हमारा संकल्प ही प्रकृति है तो प्रकृति हमारा संकल्प है उसे हम अलग है प्रकृति हमारा संकल्प ही प्रकृति है माया और तो संकल्प करने वाला आत्मा है ब्रह्म तो प्रकृति भी उसे भिन्न नहीं है उसका संकल्प ही प्रकृति है उसका संकल्प हमारे एक ही है हम हमारा संकल्प दोहरे हम अपने संकल्प को भीड़ मानते दुखी सुख हो रहे हैं तो स्वप्न में सब अपना ही संकल्प होता है और दूसरा तो कोई है नहीं उसको भी भीड़ मान के सुखी दुखी होते हैं जाकर कहते हैं कि वहाँ तो मेरे सिवा कोई था ही नहीं अगर तो स्वप्न में चाह जाए कि मेरे स्वप्न में तो जागरा ज्ञान हो जाए ऐसे अपने स्वप्न <clears throat> जागृत में भी निश्चय करें कि मेरे साथ कुछ नहीं तो ज्ञान हो जाए जब तक तुमने सब भीड़ मानते रहोगे तो ज्ञान बना रहेगा हो तभी अपने संकल्पों से दुख की स्थिति हो रहा है और कोई नहीं है दुख सुख देने वाला है नहीं अपना है कहता के तुम्हारा ही संकल्प है वेदांत के अनुसार साथ तुम्हारा ही संकल्प है और कोई नहीं है और तू अपने को दिन हिम क्यों बना लिया अपने को निर्भय स्वावलंबी परमात्मा का अवतार क्यों नहीं मान लेते है तो परमात्मा मान लेता कि अपने जन्म में होने वाला विषय कर लिया नहीं ब्रह्म ही अपने को देह मान कर दुखी सुखी हो रहा है देव बुद्धि छोड़ो तो ब्रह्म चाहिए हो देव बुद्धि छोड़ो आकाश से भी व्यापक हो जाता हो देह में आके तीन हाथ में कैद हो गया और दुखी सुखी हो रहा है देश अलग होता है तो दुख भी अलग हो जाता है संसार भी कोई नहीं रहता है अनुभव कभी नहीं मानते हैं शास्त्र तो कहता ही है गुरु भी कहता अपना अनुभव इस सुक्ति में होता कि किसी के पता नहीं हमारा कोई द्वैत नहीं है द्वैत भी नहीं शांति है तो अपने जागरूक में द्वैत द्वैत के झगड़े में पड़ जाते हैं द्वैत द्वैत के झगड़े में लड़ना है पहले तो अब मिला निर्भय से कहना द्वैत द्वैत के थोड़ा सा निर्भय अवस्था में चला है व्रत अव्रत खैर अव्रत तो निर्भय है तो वो भी कल्पना ही है भय अभय दोनों ही कल्पना है भय अभय दोनों से पार हो जाए तो अपने में भय अभय होता है जाके न भय है न भय है तो सपने में किसी से डरते हैं किसी को डराते हैं तो जागते हैं तो न डरना है बड़ा है ना डराने वाला अभी हैं आप ही अपने से डरते हैं दूसरा कोई डराने वाला मारने वाला नहीं है आप ही अपने से मारता अपने से डरता है सफर में कोई हमारे को मारता तो आप ही अपने को मारे वाला दूसरा कौन है मारने वाला मरने वाला दोनों आप ही है यही लीला अपने आप में करता है मूर्खता का कारण जान लेते नहीं करे वहाँ तो भी मूर्खता है ज्ञान है अज्ञान में रहे अज्ञान में सभी दुख हो रहे हैं अज्ञान से सब जन्म मरण अपने में देख रहे होता तो नहीं और देख रहे हैं कि मैं जन्मा हूँ मरूंगा तो सोचते में किसी का जन्म मरण नहीं हुआ है जागृत में जन्म मरण देखता है मोटा के कारण ना तो सुप्ति में किसी का जन्म मरण जगह के साथ किसी का पता नहीं अगर ऐसा तो सब खिलाना चाहिए ना तो सुस्ती में नहीं है तो जागरूक में भी नहीं है जो कभी दिखे कभी नहीं वो होता ही नहीं सब सब तक जब सब करते रहे पूजा पाठ छोड़ो नहीं है धीरे धीरे जैसे जैसे मन शुद्ध होगा रात खुलता जाएगा सुनने में कोई तो हर नहीं है पर जो कहते हैं वो कहते हैं जब समझ में नहीं आता मैं संपूर्ण अवयवों से रहित हूँ और देवताओं से भी पूजित हूँ सम्यक पूर्ण होने से देवता आदि को के विभाग को मैं ग्रहण नहीं करता और फिर भी देवताओं से भी पूजित हूँ सबसे पूजी तो सब मेरे उपासना करता है सब मेरा भक्ति पर मैं किसी से कुछ नहीं करता और फिर भी मैं देवता आदि के विभाग को नहीं ग्रहण करता हूँ मेरे ही सब उपासना करते हैं मेरे को ज्ञान करते हैं वो मैं हूँ सब मेरी उपासना करते हैं सब मैं सबका पूजनीय सब देवताओं का भी पूजनीय हूँ ये तुम्हारा स्वरूप है और तू सबके पूजा करते थे उल्टा हो गया ना जो सबका पुण्य है वो सबका पुण्य लगा उल्टा कर दिया तो वह तत्व जिसको देवता भी उपासना कर ब्रह्मा विष्णु वो भी उपासना करते हैं उनका भी आत्मा है मैं जान के आप सबसे पूजा अर्चा करते रहते हैं अज्ञान में क्या नहीं होता तो सबका पूजनीय है सब देवता तेरे की उपासना करते हैं तरह के ज्ञान के लिए जो भी ज्ञान करते हैं जो पाते हैं कुछ उपाय नहीं है वही सच्चिदानंद आत्मा तो ही है वही जिसको सब